खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं और पाकिज़ा औरतें पाकिज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकिज़ा मर्द पाकिज़ा औरतों के लिए हैं ये लोग उन बातों से बरी किए हुए हैं जो लोग कहते हैं इन्हीं के लिए मगफिरत और बाज़्ज़त रिस्क है